जैन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक 19 समग्रता ही है मार्ग भाग एक प्यारे ओशो एक शिष्य ने गुरु उमोन से कहा बुद्ध का प्रकाश समस्त विश्व को प्रकाशित करता है बुद्ध की प्रज्ञा सारे जगत को आलोकित करती है लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गुरु ने कहा आह क्या तुम किसी दूसरे की पंक्तियां नहीं दोहरा रहे हो शिष्य झिझका तो उमोन ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा घबराकर शिष्य ने कहा हाँ उमोन बोला तब तुम मार्गच्युत हो गए कुछ समय बाद एक दूसरे गुरु शिशीन ने अपने शिष्यों से पूछा किस बिंदु पर उमोन का शिष्य मार्गच्युत हुआ था प्यारे ओशो इस रहस्य भरी परिचर्चा पर प्रकाश डालने की कृपा करें बुद्ध के अंतिम शब्द जो उन्होंने इस पृथ्वी पर कहे वो सदा स्मरण रखने जैसे वे तीन छोटे से शब्द हैं अप दीपो भव अपना दिया स्वयं ही बनो खुद के प्रकाश स्वयं ही बनो be a light unto thyself. जैसे ही बुद्ध ने कहा छोड़ता हूं इस शरीर को आनंद रोने लगा और उसने कहा हमारा क्या होगा हम जो तुम्हारे पीछे चलते थे हमने बड़ी आशाएं बांध रखी थी और अब सबंधकार हो जाए प्रकाश बुझा जाता है बुद्ध ने कहा अगर तुमने मुझे अपना प्रकाश समझा था तुम भूल में थे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपना प्रकाश हो सकता है प्रकाश खोजना है तो भीतर खोजो जिसने बाहर प्रकाश खोजा वो अंधकार में ही भटकता रहेगा अप दीपो भव अपने प्रकाश खुशी ही और बड़ी अनूठी घटना है कि बुद्ध के जीते जी आनंद ज्ञान को उपलब्ध न हुआ बुद्ध के मर जाने के एक दिन बाद ही ज्ञान को उपलब्ध हो गए चालीस साल तक बुद्ध के साथ रहकर ज्ञान को उपलब्ध न हुआ और एक दिन केवल एक दिन बुद्ध के अभाव में ज्ञान को उपलब्ध हो गया कहां अर्जुन थी बुद्ध की मौजूदगी उसे स्वयं को नहीं देखने देती थी बुद्ध की मौजूदगी में वो बुद्ध की तरफ देख रहा था आंखें बाहर लगी थी बुद्ध के हटते ही बाहर देखने योग्य कुछ भी ना रहा और जिसने बुद्ध को देखा वो बुद्ध के हटने के बाद उसे बाहर देखने योग्य रह भी क्या जाएगा उसने सब कुछ देख लिया जो इस जगत में देखने योग्य था और इस जगत के पार जो था अदृश्य जो था उसकी भी झलक पा ली बुद्ध के मिटते ही आनंद की आंखें निश्चित ही बंद हो गई होंगी संसार में देखने योग्य कुछ भी ना बचा उसी क्षण उसने स्वयं को देखा और जैसे ही कोई स्वयं को देख ले वैसे ही मार्ग पर आ जाता है स्वयं का होना ही मार्ग है लेकिन मन कोशिश करता है दूसरे के अनुसरण की क्योंकि नकल आसान है वास्तविक होना कठिन यह सदा सरल है कि तुम किसी और का अभिनय करो क्योंकि अभिनय तो ऊपर ही ऊपर होता है भीतर तो तुम जो थे वही बने रहते इसलिए मन अक्सर अनुकरण को चुनता है प्रभावित होता है किसी दूसरे के ढंग से जीना शुरू करता है कितनी ही तुम चेष्टा करो अगर तुम दूसरे के पीछे चल रहे हो तो मंजिल भटक जाएगी और इसलिए जीवन की गहरी से गहरी कला यह है बुद्ध पुरुषों के पास होकर भी उनके अनुसरण से बचना उनके पास न हुए तो भी ना चलेगा उनके पास होकर नकल में पड़ गए तो भी ना चलेगा दोनों के मध्य में एक बिंदु है जहां मार्ग है बुद्ध पुरुषों के पास होना सौभाग्य है लेकिन उनकी उनकी लीक पर चल पड़ना दुर्भाग्य है उनसे तुम बुद्धत्व सीखना आचरण नहीं उनके जीवन की बाहर रूपरेखा को तुम अपने जीवन का नक्शा मत बना क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन की बाहर रूपरेखा दूसरे के लिए काराग्रह सिद्ध होती क्योंकि तुम पृथक हो तुम भिन्न हो तुम बस तुम ही जैसे हो तो किसी भी दूसरे के नक्शे पर अगर तुमने जीवन का ढांचा बनाया तो तुम्हारा अपना ढांचा कुंद हो जाए तुम्हारे अपने विकसित होने की संभावनाएं छीन हो जाएंगी वो दूसरा तुम्हारे लिए कारागृह बन जाएगा और पत्नी क्या कारागृह बनेगी पति क्या कारागृह बनेंगे बुद्ध पुरुषों के पास कारागृह निर्मित कर लेना बहुत आसान है दुनिया के सभी कीमती कारक ग्रह बुद्ध पुरुषों के आसपास निर्मित हुए उनका नाम चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो ये जो बड़े बड़े काराग्रह हैं संप्रदायों के ये बुद्ध पुरुषों के पास निर्मित हुए और बुद्ध पुरुषों के पास जब कोई काराग्रह निर्मित होता है तो वो करीब करीब स्वर्ण का है उसे छोड़ने का मन भी ना होगा उसे तुम चिपटोगे उसे तुम पकड़ोगे और इन कारागृहों के बाहर किसी संतरी को खड़ा करने की जरूरत नहीं तुम खुद ही भागना ना चाहोगे इस बात को स्मरण रखना लेकिन मध्य का बिंदु क्या होगा प्रभावित भी होना अनुकरण भी मत करना बड़ी विरोधाभासी बात है क्योंकि तुम तो जैसे ही प्रभावित होते हो वैसा ही अंधा अनुकरण पैदा हो जाता तुम्हारे लिए तो प्रभावित होने का अर्थ ही यह होता है कि अनुकरण करो बुद्ध पुरुषों से ज्योति तुम लेना बस वैसे ही ज्योति लेना जैसा एक दिया बुझा हुआ दिया दूसरे जलते हुए दिए से ज्योति ले लेता है फिर स्वयं चल पड़ता है अपनी यात्रा पर फिर उसकी ज्योति धारा अपनी ही होती है अपना ही तेज जलता है अपना ही दिया होता है एक झलक एक छलांग और आग एक दिए से दूसरे दिए में प्रवेश कर जाती प्रभावित होने का इतना ही अर्थ है कि बुद्ध पुरुषों के पास तुम्हारी प्यास जग जाए आग पकड़ जाए जीसस ने कहा है जो मेरे पास है वो आग के पास है और जो मेरे पास नहीं है परमात्मा का राज्य उनसे बहुत दूर है जो मेरे पास है वो आग के पास है और जो मेरे पास नहीं है परमात्मा का राज्य उनसे बहुत दूर है आग के पास होना बस इतने ही अर्थ में उपयोगी है कि एक छलांग लगे और आग तुम्हें पकड़ जाए लेकिन तुम नकल मत करना क्योंकि नकल की आग झूठी होगी उसे तुम ऊपर से तो धारण करोगे भीतर तुम अंधेरे रहोगे कितना आसान है बुद्ध पुरुषों जैसे वस्त्र पहन लेना कितना आसान है उनके जैसे उठना बैठना चलना और कितना कठिन है उनके जैसा हो जाना वो जो भीतर है वो जो जीवंत ज्योति भीतर है उसके जैसा हो जाना अति कठिन इसलिए हम सुगम मार्ग खोजते हैं मन सदा ही लीस्ट रेसिस्टेंस जहां कम से कम असुविधा हो उसको चुनता है असुविधा इसमें कुछ भी नहीं है कि तुम बुद्ध जैसा वस्त्र पहन लो कि तुम बुद्ध जैसे उठो बैठो बुद्ध जो भोजन करें तुम भी करो बुद्ध जब सोए तब तुम भी सो जाओ तुम बाहर से बिल्कुल अभिनय करो अभिनेता हो जाना सबसे सरल है लेकिन अभिनेता प्रमाणिक नहीं अभिनेता एक झूठ है और तुम भली भांति जानते रहोगे कि अभिनय बाहर बाहर है भीतर तुम्हें अपना अंधकार अपनी नग्नता अपनी सड़ी गली स्थिति दिखाई पड़ती रहेगी तुम उसे कैसे छिपाओगे वस्त्र कितने ही सुंदर हो और आभूषण कितने ही मूल्यवान लेकिन तुम्हारे भीतर के नासूर उनसे मिटेंगे नहीं छिपेंगे भी नहीं तो बुद्ध पुरुषों से यह सीखना कि तुम अपने मार्ग पर कैसे चलो बुद्ध पुरुषों से अनुकरण मत सीखना उनसे तुम यह सीखना कि तुम्हारा बुद्धत्व कैसे जगे आंख बंद करके अंधे की भांति उनके पीछे मत चलना क्योंकि उनका मार्ग तुम्हारा मार्ग कभी भी होने वाला नहीं इसलिए जो अनुकरण करेगा वो भटक जाए ये पहली बात समझ लें और दूसरी बात ये समझ लें कि न केवल तुम आचरण में अनुकरण करते हो तुम ज्ञान में भी पुनरुक्ति करते हो तुम सुन लेते हो और दोहराने लगते हो तुम्हारा दोहराया हुआ तुम्हारे हृदय से नहीं आता तुम्हारे कंठ तक से नहीं आता बस तुम्हारे ओंठों पर ही होता तुम्हारे कान तुम्हारे ओंठों को दान देते रहते हैं तुम सुनते हो और तुम्हारे ओंठ बोलते रहते तुम्हारे कान और तुम्हारे ओंठों के बीच सीधा द्वार है तुम्हारे हृदय को वो द्वार छूता भी नहीं तुम जो बुद्ध पुरुषों से सुनो तुम बुद्ध पुरुषों के संबंध में सुनो उसे तुम दोहराना मत तुम तोते मत बन जाना तुम उसे हृदय से गुजरने देना और जब भी कोई ज्ञान की किरण हृदय से गुजरती तब वो तुम्हारी अपनी हो जाती तब तुम दोहराते नहीं तब तुम्हारा जानना बासा नहीं होता तब उसमें वही ताजगी होती है जो सुबह की पहली किरण में होता है वही नयापन होता है जो सुबह की ओस में होता है शास्त्रों से जिसने सुन लिया सदगुरुओं से जिसने सुन लिया और फिर उसे दोहराने लगा वो पंडित हो जाएगा ज्ञानी नहीं और पंडित मार्गच्युत उसका रास्ता खो गया अज्ञानी भी पहुंच जाएंगे पंडित कभी पहुंचते नहीं सुने गए अब हम इस छोटी सी वार्ता में प्रवेश करें एक शिष्य ने गुरु उमोन से कहा बुद्ध का प्रकाश समस्त विश्व को प्रकाशित करता है बुद्धि की प्रज्ञा सारे जगत को आलोकित करती है पढ़े होंगे कहीं उसने ये सब क्योंकि कहां हैं वे आंखें जो देख पाए कि बुद्ध का प्रकाश समस्त जगत को प्रकाशित करता है और जो ये देख लेगा वो स्वयं ही बुद्ध हो गया कहां है वो हृदय जो अनुभव कर पाए कि बुद्ध की प्रज्ञा सारे जगत को आलोकित करती और जिसने ये अनुभव कर लिया वो स्वयं ही बुद्ध हो गया बुद्ध हुए हो बिना बुद्ध की घटना को समझना आसान नहीं बौद्ध होने से ना चलेगा बुद्ध होना पड़ेगा जैन होने से ना चलेगा जिन होना पड़ेगा क्रिश्चियन होने से काम चलता होता तो आधी दुनिया स्वर्ग में प्रवेश कर गई होती क्राइस्ट होना पड़ेगा क्रिश्चियन होना कितना आसान है क्राइस्ट होना कितना मुश्किल है क्रिश्चियन होने में कुछ भी तो नहीं खोना पड़ता वो सौदा बिल्कुल सस्ता है तुम गंवाते कुछ भी नहीं और पाने की पूरी आशा दांव पर तुम कुछ भी नहीं लगाते और जीत का पूरा सपना जीसस ने कहा है जो समझना चाहे उसे जिसकी मैं बात कर रहा हूं उन्हें मेरे ही जैसी अपनी सूली अपने कंधों पर ढोनी पड़ेगी और जीसस ने कहा जब तक तुम सूली पर न लटक जाओ तब तक वो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए खुलेगा नहीं बड़ी विचित्र घटना मनुष्य के इतिहास में घटती जीसस को धोनी पड़ी अपनी सूली गोलगोथा तक जहां उनको सूली लगाई गई जिस कारागृह में उन्हें बंद किया गया था उस कारागृह से जब सिपाही उन्हें ले चले तो उन्होंने उनकी सूली को उनके ही कंधे पर रख दिया जीसस गोलगोथा की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं पसीने से लथपथ लोग पत्थर फेंक रहे हैं गालियां दे रहे हैं और सूली भी अपनी अपने कंधे पर ढो रहे हैं फिर ईसाई पादरी हैं पुरोहित हैं वे भी सूली अपने कंधे पर टांगे हुए उनकी सूली स्वर्ण की ईसाई पादरी सोने का क्रास अपने गलों में लटकाए हुए एक सूली थी लकड़ी की जो भारी थी बजनी थी पहाड़ की चढ़ाई थी चारों तरफ अपमान और गाली थी और अपनी ही सूली पर क्षण भर बाद जीसस को लटक के मर जाना और एक सूली सोने की है जो बड़ी कीमती है जो भारी नहीं है और जिसके कारण अपमान नहीं मिलता प्रतिष्ठा मिलती सम्मान मिलता सत्कार मिलता आदमी बड़ा कुशल है असली सूलियों को सोने की नकली सूलियों में बदल लेता है क्रिश्चियन होना हो तो यह ठीक है लेकिन क्राइस्ट होने के लिए काफी नहीं शायद क्राइस्ट होने के लिए यही बात है ये उमोन के शिष्य ने कहा उमोन को देखने में क्षण भर भी देर न लगी होगी देखने की जरूरत भी नहीं है ज्ञानी पुरुष के सामने अगर तुम उधार ज्ञान प्रकट करो तो वो आंखें बंद किए भी देख लेता टटोलने की भी जरूरत नहीं है तुम्हारे शब्द इतने बासे और सड़े हुए होते ऐसे जैसे किसी चेहरे पर रंग रोगन किया गया होता है उससे किसको धोखा होता है कौन धोखे में पड़ता है शायद तुम ही दर्पण के सामने खड़े हो कि अपने को सुंदर समझ लेते हो तो बात दूसरी है अन्यथा तुम्हारे चेहरे पर लगा हुआ रंग रोगन सिर्फ तुम्हारी कुरूपता का प्रदर्शन होता है उमोन को देखने में क्षण भर की देर न लगी होगी कि ये शब्द किसी और के ये होंगे ही किसी और के क्योंकि शिष्य को वो भली भांति जानता है जो अभी अंधेरे में भटक रहा है उसे कैसे दिखाई पड़ा कि सारा जगत बुद्ध के प्रकाश से आलोकित है और जिसके अभी हृदय की पहली धड़कन भी नहीं खुली उसे कैसे समझ में आया कि बुद्ध की प्रज्ञा से सारा जगत आंदोलित है ये शब्द उधार उधार ज्ञान बड़ा जहरीला है किसी और को नहीं मारता तुम्ही को मारता है तुम ही उधार ज्ञान के नीचे दबते हो सड़ते हो भटकते हो अज्ञान नहीं भटकाता उधार ज्ञान निश्चित भटकाता अज्ञान तो विनम्र होता है कि मुझे पता नहीं इसलिए जानने की संभावना रहती उधार ज्ञान विनम्र नहीं होता उधार ज्ञान अकल से भरा होता है कि मुझे पता है और जब इस शिष्य ने कहा होगा उमोन के सामने कि बुद्ध का प्रकाश समस्त विश्व को प्रकाशित करता है बुद्ध की प्रक्रिया सा, सारे जगत को आलोकित करती तो बड़ी अकल से कहा होगा अकड़ ना हो तो ऐसे शब्द कहे ही नहीं जा सकते और उमोन के सामने इन शब्दों की कहने की जरूरत क्या थी उमोन खुद बुद्ध पुरुष है उमोन के सामने ये शब्द शिष्य कह रहा है इसीलिए ज्ञान के प्रदर्शन के लिए वो बताना चाहता है कि उमोन स्वीकार करे कि मैं भी जानता हूं मुझे भी पता है ये एक आत्म प्रदर्शन है लेकिन उमोन जैसे गुरुओं से बचने का उपाय नहीं वो तुम्हें वहां तक देख लेंगे जहां तक तुमने भी स्वयं को नहीं देखा तुम उनके पास जाते हो तो वो तुम्हारे आर पार देख पाते तुम उनके लिए ट्रांसपेरेंट हो तुम्हारे छिपने का कोई उपाय नहीं तुम्हारी सब नग्नता उनके सामने उभर जाती काश ये शिष्य चुप बैठा रहता तो बेहतर था बोल के ही ये फंसा ज्ञानियों ने कहा है कि ज्ञानी तो चुप हो जाते हैं अज्ञानी को चुप रहना चाहिए ज्ञानी चुप हो जाते हैं अज्ञानी को चुप रहना चाहिए क्योंकि अज्ञानी बोला कि फंसा तुम बोले नहीं कि तुम गलत हुए नहीं तुम्हारे मौन में तुम ठीक हो लेकिन बोलते ही तुम उपद्रव बोल ले लेते हो ज्ञानी चुप हो जाते हैं अज्ञानी को चुप्पी साधनी चाहिए और सदगुरुओं के पास उमोन जैसे सदगुरुओं के पास अगर तुम बोल रहे हो तो तुम बिल्कुल पागल हो उनके पास बोलकर तुम क्या सीखोगे उनके पास बोलकर तुम भटकोगे उनके पास तुम्हें ऐसे हो जाना चाहिए जैसे तुम हो ही नहीं ताकि तुम्हारे न होने में उनका होना पूरा का पूरा परिव्याप्त हो सके ताकि तुम्हारी शून्यता उनकी ध्वनि से भरे ताकि तुम्हारे निर्जन एकांत में उनका प्रकाश तुम्हें जगा सके जब तुम बोलते हो ध्यान रहे बोलना और चुप होना विपरीत प्रक्रियाएं हैं जब तुम बोलते हो तब आक्रमण जब तुम चुप होते हो तब ग्रहण गुरु बोले समझ में आता है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ मिटाना है तोड़ना है गुरु आक्रमक होगा अन्यथा वो तुम्हें बदल भी ना पाए शिष्य बोले समझ में नहीं आता क्योंकि शिष्य अगर बोले तो ग्रहण बंद हो जाता तब वो रिसेप्टिव नहीं तब वो आक्रामक हो गया उमोन के सामने चुप होना था उमोन के सामने बोल के तुम सिर्फ अपना अज्ञान ही प्रकट करो लेकिन चुप होना बड़ा कठिन मैंने सुना है रमजान के दिन थे लोग उपवास कर रहे थे और दिन दिन भर लोग मसादों मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे रमजान के दिनों में मस्जिद में चुप होना जरूरी जहां भी धर्म है वहां चुप होना जरूरी क्योंकि तुम जब चुप हो तभी धर्म बोल पाता जब तुम बोलते हो तब धर्म चुप हो जाता मुल्ला नसरुद्दीन भी मस्जिद गया था जाना तो नहीं था जाने का कोई मन भी ना था लेकिन प्रतिष्ठा का सवाल जो मस्जिद न जाएगा रमजान के दिनों में गांव उसे अधार्मिक मानता है और अधार्मिक होना जरा महंगा सौदा है रिस्पेक्टेबिलिटी चाहिए समाज में जीना हो तो धार्मिक होना कम से कम दिखाई पड़े इतना तो चाहिए क्योंकि जब तुम्हें लोग धार्मिक समझते हैं तब तुम धोखा आसानी से दे सकते हो जब लोग तुम्हें अधार्मिक समझते हैं तब तुम्हारी दुकान का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है चोर को भी यहां मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी पड़ती है बेईमान को भी मंदिर की तरफ जाना पड़ता है इससे बेईमानी करने में सुविधा होती सारा गांव जा रहा था तो मुल्ला नसरुद्दीन को भी जाना पड़ा एक कोने में बैठकर वो भी आंख बंद करके नमाज कर रहा है उसके पास बैठे एक आदमी ने कहा बोलना नहीं था नियम के विपरीत था उस आदमी ने कहा पता नहीं मैं घर में ताला लगा पाया या नहीं दूसरे आदमी ने सुना उसने कहा बोले सब खराब कर डाला अब फिर से नमाज पढ़ना पड़े नसरुद्दीन ने कहा thank God I have not spoken yet परमात्मा का धन्यवाद मैं अभी तक नहीं बोला मैं चुप ही हूं वो जो आक्रमक चित्त है वो बोलता ही चला जाता है उसे होश भी नहीं कि वो बोल रहा है जब तुम बाहर से चुप दिखाई पड़ते हो तब भी वो भीतर बोलता जाता है उमोन के सामने बोलने की कोई जरूरत न थी उमोन के सामने तो तुम मस्जिद में हो वहां तो नमाज का वक्त है मंदिर में हो वो तो पूजा का स्थल है वहां तुम्हें चुप होना चाहिए गुरु के पास केवल वही पहुंच पाता है जो चुप देखा होगा उन्होंने कि बोलता है निश्चित उधार बोलता है लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और गुरु ने कहा आह क्या तुम किसी दूसरे की पंक्तियां नहीं दोहरा रहे बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी इसलिए यह निर्णय कुछ बात को सुनकर नहीं लिया गया है क्योंकि बात को अगर सुन के निर्णय लेना था तो कम से कम शिष्य को पूरा बोल तो लेने दे अभी वो क्या कहना चाहता था ये भी पूरा नहीं हो पाया अभी उसने पंक्ति शुरू ही की थी लेकिन उमोन को निर्णय कोई सुन के लेने का सवाल नहीं शिष्य बोला इसी में निर्णय हो गए शिष्य बोला इतने में ही बात तय हो गई गुरु के सामने प्रदर्शन की जो वृत्ति है वो अज्ञान से ही उठ सकती है गुरु के सामने अपने को ज्ञान में ढांकने की कोशिश आत्मघाती वो वैसे ही जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और बीमारी बताने से इंकार करे या पाए लेकिन तुम डॉक्टर के पास जाके सारी बीमारियां बता देते लेकिन यही तुम गुरु के पास नहीं करते हो गुरु के पास तुम कोशिश करते हो दिखाने की कि तुम स्वस्थ हो इलाज कैसे होगा और फिर तुम चाहते हो इलाज मेरा रोज का अनुभव मैं लोगों से पूछता हूं क्या है तकलीफ तो कहते हैं कोई तकलीफ नहीं तकलीफ साफ तकलीफ से ज्यादा और कुछ भी साफ नहीं है तकलीफ ही तकलीफ है पर वे कहते हैं कोई तकलीफ नहीं सब ठीक है अगर मैं इंगित करूं कि यह बीमारी है तो वे बुरा मानेंगे और अगर मैं इंगित भी करता हूं तो मैं पाता हूं वे इंकार करते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं तुम तो क्यों छिपाते हो अपने को और बीमारियां कहीं छिपाने से मिटी उन्हें उघाड़ना ही होगा और जहां सर्जरी करनी हो वहां उन्हें पूरा ही उघाड़ना होगा उनकी जड़ तक जाना होगा और तुम्हारी हड्डियों तक जड़ तुम्हारे मांस मज्जा सभी में जड़ है तुम्हारी पूरी भूमि को खोदना पड़ेगा तुम्हारी बीमारियों के बीच मूल से अलग करने होंगे तुम छिपाओगे तो कैसे होगा लेकिन तुम शरीर के संबंध में ज्यादा होशियार तुम चिकित्सक के पास जाके सब खोल के बता दे आत्मा के संबंध में तुम्हारी होशियारी इतनी नहीं तुम छिपाते हो मैंने सुना है स्थलिन के संबंध में एक कहानी प्रचलित है उसकी पुलिस खुफिया पुलिस का प्रधान था बेरिया और इस तरह में उसकी परीक्षा लेना चाहता था कि वह योग्य भी है या नहीं तो एक सांझ वो मास्को में गया कार में बैठकर बिना किसी को बताए और उसने सौ कार्ड टाइप किए हुए मास्को की अलग अलग सड़कों पर फेंक किसी कार्ड में लिखा था स्टेलिन बदमाश किसी कार्ड में लिखा था स्टेलिन पागल किसी कार्ड में लिखा था स्टेलिन व्यभिचारी किसी कार्ड में कुछ स्टेलिन को जितनी गालियां दी जा सकती थी सब सौ कार्डों पर लिख के वो जगह जगह फेंक आए सुबह वो उठा ही था चाय पी ही रहा था कि बेरिया मौजूद हुआ उसने सौ कार्ड टेबल पर ला के रख दिए स्टेलिन भीतर खुश हुआ कि आदमी कुशल है ऊपर से नाराजगी दिखाई और कहा कि ये ये किसने लिखे कौन है उसे पकड़ो क्या तुमने पता लगाया ये कौन आदमी जिसने ये कार्ड गांव में फेंके भेरिया ने कहा कि महानुभाव वह आप ही तब तो स्टेलिन भीतर और भी खुश हुआ और उसने कहा लेकिन तुमने पता कैसे लगाया भेरिया ने कहा आपके संबंध में इतनी सही बातें आपके सिवाय किसी को पता भी कैसे होता लेकिन जब तुम गुरु के पास जाते हो तो जो तुम्हें भी पता नहीं है वो भी उसे पता हो जाए गुरु का अर्थ ही है कि वो एक्सरे है वो तुम्हें आर पार देखेगा नहीं तो गुरु ही नहीं है तुम्हारे कहने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करेगा कि तुम जब कहोगे जब वो पहचानेगा गुरु कोई एलोपैथ डॉक्टर नहीं है कि तुम कहोगे जब पहचानेगा वो पुराना आयुर्वेदिक तुम कमरे में प्रवेश नहीं किए कि उसने जाना कि कौन सी बीमारी है तुमने सांस नहीं ली कि तो उसने पहचाना कि कौन सा रोग है उसने तुम्हारी आंखों में देखा नहीं कि पकड़ा पुराने आयुर्वेदिक वैद्य का यही लक्षण था कि वो तुमसे पूछे ना तुमसे पूछा तो क्या वैद्य तुमसे पूछा फिर निदान किया तो क्या वैद्य बीमार से पूछ के क्या निदान होगा एलोपैथी मरीज से पूछती है आयुर्वेद मरीज को देखता है गुरु आयुर्वेदिक है एलोपैथिक नहीं तुम गए नहीं तो उसने पहचाना नहीं तुम्हारा उठना तुम्हारा बैठना तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं क्योंकि तुम एक खुली हुई अभिव्यक्ति हो तुम पूरे क्षण अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और कोई उपाय भी नहीं है तुम्हारी झिझक तुम्हारी अकड़ तुम्हारा अहंकार तुम्हारी झूठी विनम्रता तुम्हारा छिपाने की कोशिश सब प्रकट कर रही है तुम प्रतिक्षण अपनी घोषणा कर रहे हो तुम्हारी घोषणा एक क्षण को भी रुकती नहीं वो जारी है उमोन बात पूरी सुना भी नहीं और बोला आह तो क्या तुम किसी दूसरे की पंक्तियां नहीं दोहरा रहे हो अभी पंक्तियां कहीं भी नहीं गई थी लेकिन पंक्तियां कहने की जरूरत नहीं तुम झूठे हो तुम दोहराओगे तुम्हारे और झूठे उन पर जो भी आएगा वो दोहराया हुआ होगा तुम्हारी आंखें झूठी उनसे तुम जो भी कहोगे वो प्रवंचना होगी सिस झिझका अभी तो बात पूरी भी ना हुई और निर्णय हो गया झिझका अभी उसने सोचा भी नहीं था कि पकड़ा जाएगा और पकड़ लिया गया तो उन्होंने ने उसकी आंखों में गौर से देखा ध्यान से देखा क्योंकि जब तुम झिझकते हो तब तुम्हारे जीवन की सरिता पूरी की पूरी झकझोर उठती जब तुम झिझकते हो तो तुम्हारा चित्त का पूरा दर्पण कप उठता है क्योंकि झिझकने का क्या अर्थ होता है झिझकने का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर द्वैत है द्वंद्व एक हिस्से पर तुम जानते हो कि गुरु ने जो कहा ठीक है और दूसरे हिस्से पर तुम झुटलाना चाहते हो कि नहीं ये ठीक नहीं तुम दो हो गए जहां तुम दो हुए वहां तुम झिझके जहां तुम एक हो वहां झिझक नहीं है तुम जितने बटे हो उतनी झिझक होगी तुम जितने अनबटे हो उतनी झिझक नहीं होगी जब तुम एक होते हो तब कोई झिझक नहीं होती इस झिझक के आधार पर पश्चिम में लाई डिटेक्टर विकसित किया गया अब तो अदालतों में उसका उपयोग करते हैं झूठ पकड़ने के लिए लेकिन सदगुरु सदा से जानते रहे कि झिझक द्वंद्व की खबर है अभी पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिकों ने एक यंत्र विकसित किया है तुम्हें पता नहीं होता अदालत में तुम जाते हो तुम मंच पर खड़े किए गए कटघरे में और तुमसे पूछा गया नीचे यंत्र लगा हुआ है वो यंत्र तुम्हारी झिझक पकड़ेगा जब भी तुम झिझकोगे तब वो यंत्र खबर दे देगा कि यहां यह आदमी झिझका और जहां तुम झिझके वहीं झूठ है जब तुम झिझकते हो तो तुम्हारे हृदय की धड़कन एक क्षण को रुक जाती एकांत धड़कन बीच में खो जाती गैप बड़ा होता जब तुम झिझकते हो तुम्हारे खून की गति बदल जाती जब तुम झिझकते हो तब तुम्हारे मन में एक झंझावात आ जाता जब तुम झिझकते हो तुम्हारे भीतर दो उत्तर होते हैं हां भी और ना भी जैसे कि तुम खड़े हो अदालत में तुमसे पूछा गया इस समय घड़ी में कितना बजा है झिझकने का कोई कारण नहीं क्योंकि घड़ी में अगर नौ बजा है तो नौ बजा है घड़ी अदालत में लगी तुम कहते हो नौ बजे तुम्हारा उत्तर इकहरा होता है तुम्हारे भीतर कोई भी नहीं कहता कि नौ नहीं बजे तुम दो नहीं होते फिर तुमसे पूछा गया कि अदालत में कितने लोग हैं तो तुम गिनती करके बता देते हो कि दस लोग कोई झूठ का कारण नहीं नीचे मशीन तुम्हारे हृदय की धड़कन को तुम्हारे श्वासों की गति को तुम्हारे खून के प्रवाह को तुम्हारे व्यक्तित्व की बेझिझक स्थिति को अंकित कर रही जैसे कार्डियोग्राम करता है वैसे ही नीचे लकीरें बन रही तुम एक स्वरबद्ध हो फिर तुमसे पूछा गया कि क्या तुमने हत्या की एक झटका लगा तुम जानते हो तुमने की इसलिए कोई उपाय नहीं है कि तुम्हें झटका ना लगे तुम भली भांति जानते हो कि तुमने हत्या की इसलिए तुम्हारा भीतर का प्राण तो कहता है हां तुम भली भांति जानते हो कि अगर तुमने हां कहा तो तुम्हारी मौत करीब तुम्हारा मन कहता है नहीं तुम्हारा हृदय कहता है हां तुम्हारा मन कहता है नहीं भीतर एक द्वंद खड़ा हो जाता है एक ही साथ विपरीत उत्तर आते इन विपरीत उत्तर के कारण नीचे की मशीन अंकित करती है कि तुम डमाडोल हो गए झिझक गए बस इसी बिंदु पर तुम पकड़ लिए जाते हो जब भी तुम झूठ बोलते हो तब तुम झिझकते हो इसलिए जो लोग झूठ बोलते हैं निरंतर अगर वे हृदय की बीमारी से पीड़ित हों तो आश्चर्य नहीं क्योंकि निरंतर अगर इस तरह के झटके लगेंगे तो हृदय की बीमारी बढ़ जाएगी दुनिया में जितना झूठ बढ़ा है उतनी हृदय की बीमारी बढ़ी गांव के गरीब आदिवासी हृदय की बीमारी से नहीं मरते जितना सफल आदमी होगा उतना ज्यादा हृदय की बीमारी से मरता है पॉलिटिशियन बड़ा राजनीतिक बड़ा नेता बड़ा धनपति ऐसे लोग हृदय की बीमारी से मरते हैं कारण साफ साफ है इतना झूठ बोलना पड़ता है सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ बोलना पड़ता है हृदय को इतने धक्के लगते हैं कि हृदय की जो सहज स्वाभाविकता है वो नष्ट हो जाए पश्चिम में तो एक मजाक है अब कि जो व्यक्ति 40 या 45 साल तक की उम्र तक हृदय के आघात से पीड़ित नहीं हुआ है उसका जीवन बेकार गया वो सफल आदमी नहीं वो असफल है